तो कर जान लिया शास्त्रों को पढ़ लिया शब्दों को अर्था वही शादी नहीं विद्वान की बात नहीं है पाई विषय अभिलक्षा एक ना को क्या किया वो आदमी ही हो सकता है दूसरा निर्वृत्त बाह्य विषय अभिलाषा जिसने बाह्य अभिलाषा विषयों की अभिलाषा को बिल्कुल ध्यान दिया पर वैराग्य संपर्क पर नहीं इसलिए योग सूत्र का इसकी भी चर्चा करी है ना वैराग्य दो प्रकार का है एक पर वैराग्य है एक अपर अपर वैराग्य भी चार प्रकार का है चार विभाजन किया ये वैराग्य का कई कोटि सूत्र वहां पर समझा जो जिस तरह का अपने आप समझो अब यतमान में होगी व्यतिरेक में होगी कहाँ हो तो अपने अंदर से पता नहीं जाएगा और अंतर्मुख अगर देख लेंगे तो पता लग जाता है हमारे अंदर कितनी वासना है कितने विषय विचार है कितना नहीं है अंदर क्या आजकल बच रहा है तो स्वयं समझना पड़ेगा कि हम कहा तक हैं और कितना हमें और बाकी है नहीं सभी जाकर ये मैंने फर्स्ट में रखे हैं वैराग्य की वर्तमान वैराग्य वाली ही जाते हैं ये बहुत सारे चीजें के आकांक्षाएं है अंदर कहते हैं तो यही है अपनी चीजें पढ़ लिया जाए खंडन पढ़ लिया जाए मंडल पढ़ लिया जाए ये पढ़ लिया जाए वो पढ़ लिया जाए तो यही तो लफड़ा है जल्दी थोड़ी एक साल के अंदर कर निवृत्त बाय विषय बाय प्रेत्य वृत्त आत्मात् लोकात शरीर आदि अनात्म रचना शरीर से मर के नहीं शरीर मरने के बाद की बात नहीं हो रहा है शरीर का जिंदा रहते वक्त यहाँ मरने मतलब क्या है अनात्म रचना शरीर अनात्म लक्षण व्यावृत ममत्व अहंकारा व्यावृत जो ममत्व है व्यावृत जो अहंकार वाला होकर के वो रहता संत मैंने अहंता ममता को क्या छूट जाता है नहीं छूटता है जब से वीर संपन्न होकर के आप अमृत को लाभ कर लेते हैं और सफल मृतों में विद्यमान साधना के उनकी पूर्वक की जाती है अपने आप ममता और अमृता छूट जाती है अमृता अमृत भ्रमाणो नित्य ज्ञान अमृत स्वभाव योग तो फिर यत्न आदि के अर्था ब्रह्मणो दुर्विज्ञता इत्यादि आख्यायिका का तो प्रयोजन क्या है कहते कि भाई यह ब्रह्म दुर्विज्ञ है किस बात को कथन करके यत्न की अधिकता की अपेक्षा यत्न आर्य का अभ्यास की अधिकता की अपेक्षा है इस बात को बताने के लिए कारण की गई है समाप्ता ब्रह्म विद्या यदि पुरुषार्थ कहते हैं जो ब्रह्म विद्या जिसके अधीन परंतु तो है तो विचार समाप्त हो गया दो खंडों में अतयुद्धम अर्थवादेन ब्रह्मणोत विज्ञता उच्चते अब उससे आगे अथ ऊर्धम अतः अर्थवादे न अर्थवाद के द्वारा ब्रह्मण दुर्विज्ञता उच्चते ब्रह्म की दुर्विज्ञता को खत्म किया गया है काम मतलब उनके लिए है ऐसे कहोगे क्या लाभ हुआ तभी क्या ज्ञाने ऐसा जान दिए जाने पर ये निर्णय होता है कि उस ब्रह्म को जानने में कथन नाम एकदम अधिकम कुरिया किस प्रकार का यत्न की अधिकता की जरूरत है ये मन विचार होगा निष्कर्ष निकला एक तारीख यह पूछा है किस प्रकार के यत्न की बहुत दौड़ना पड़ेगा दस बीस किलोमीटर क्या भाव क्या है ये अपनी की अधिकता का तात्पर्य क्या है समझाना पड़ेगा और कहते देखो समाज व्यर्थ व आमनाय अभिमान साधना कर दिया सूत्र वाक्य पहले भी था तो कहा रही फिर भी दुर्विकेता उसके लिए इतना प्राणिकार था यह भी जो है वाक्य था उसका व्याख्या हो गया यत्नादि के लिए यत्नादि के लिए कैसा यत्न ये शंका हुआ उसने जवाब दिया समाध्यर्थो ये जो आमना है इसलिए यह कहेगा समाज का विधि करने के लिए पहला वाला पक्ष था अर्थवाद पक्ष ये सारा अर्थवाद मान लिया गया अब दूसरे पक्ष में अर्थवाद नहीं विधि इसकी विधि समाधि तो समाधि का विधि करने के लिए क्या किया गया अभिमान साधना जैसे क्या कैसे ज्ञापन हुआ संगीत आदियों का अभिमान उन्हें अहंकार को काट दिया गया जला गया आप जलाओ दिखाओ जला नहीं पाओ हट नहीं पाया वायु अपना यह अभिमान साधना समाज और विद्या साधन समाधि क्या है समाधान विदीक्षा उग्रते श्रद्धा समाधान ये छठ संपत्तियां द्रविद्या के साधन है विदीक्षितम तदर्थम अर्थवादाम लाया तद वो ब्रह्म विद्या के साधन ही यहाँ पर विधान के लिए इच्छित है इसलिए तदर्थम अर्थवादाम लाया उस विधय विधि के लिए ही ये अर्थवाद का प्रस्तुत किया गया है ईश हमारी साधन वही तो अभिमान नावृत्ति ब्रह्म विज्ञान सामर्थ्यम अस्ती साधन वही तो अभिमान राग द्वेशादि साधन से रहित हो और अभिमान राग द्वेश अभियुक्त जो मेरे पुरुष है वह व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान का अनुभूति करने में सामर्थ्य नहीं लगती ऐसे व्यक्ति सामर्थ्य नहीं हो सकता व्यावृत्य भाई मिथ्यावृत्या ग्राहित ब्राह्मण ब्रह्म किसके लग रहा है जो व्यावृत भाई मिथ्यावृत्य व्यावृता में निवृत्ता व्यावृत में निवृत्ति हो गया है इससे भाई विषयों से भाई विषया अदेवा विषय हो गया हो भाई विषयों से निवृत्ति कैसी हुई क्योंकि भाई विषयों में ज्ञान हो गया मिथ्या प्रत्या देहादि विषय अभिमान आदि रूपा पुरुष से तेन पुरुषेण ग्रह्यता पारस पुरुष के द्वारा ही यह ब्रह्म अभिज्ञान ग्राह्य ब्रह्म ग्रही है यही व्यक्ति इसको साक्षात्कार कर सकता है ये समाज जयाभिराम जयाभिमान अनुसार कि कैसे ज्ञापन हुआ देख लो लेकिन ऐसा नहीं होता जो अग्नि आदि है उनके जय का जो अभिमान हुआ था उसको क्यों खंडन करता इसे ज्ञापन हुआ जिसके अंदर अभिमान है उसको भविष्य ग्रहण नहीं है सदस्य भ्रम ज्ञानम दर्शवती अभिमानों को समय किससे ज्ञापन करा गया अभिमान को कुशम होने पर ही ब्रह्म विज्ञान का दर्शन होता है अनुभूति होती है अस्मात समाधि साधन आप स्वयं मृतवादी की उसके तहत समाधि साधनों का विधि करने के लिए ही यह अर्थवाद है दुर्विज्ञता का स्थिति करने के लिए ये दुर्विज्ञता कथन के लिए नहीं है पहला पक्ष का दुर्विज्ञता कथन करना है और यत्न आदि का बोध कराना है दूसरा पक्ष का समाधि का विधि करने के लिए अहंकार का शासन रखित कथन यहाँ व्याख्या का नहीं है तीसरा पक्ष सगुण उपासना अर्थवा अथोनी तथा तीसरा सूत्र वाक्य सगुणोपासनार्थ वा अपोहित पूर्व खंड में कहा था नेदम एकदम उपासना कौन है जिसको उपासित अपने उपासना करता था तो है जिसको आप ब्रह्म नहीं करके निषेध करते निषेध का कथन विधान के बिना निषेध कैसे होगा निषिद्ध वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है आप घट को कहीं निषेध करें तो बोले घट क्या मालूम होना है तो निषिद्ध कैसे करोगे सोचते अब वहां तो निषेध कर दिया निगम निगम उपास लेकिन वो एकदम तो मेरे घर उपासना जो हो रहा था वो वस्तु कौन सा है ये भी तो बताना जरूरी है निगम एवं उपास उपास्य ब्रह्मणो जो वहां पर ब्रह्म का अंदर इधम दया जो उपासना का विषय था उस उपास्य के अंदर ब्रह्मत्व को अपूरित अपूरित उसका जो है निषेध कर दिया उसने ब्रह्म को निषेध कर दिया ये जो उपास्य है ब्रह्म नियत कर दिया अनुपात प्राप्त तस्वीर सगुण अधिदैव अध्यात्म उपासन यह इसलिए जब अच्छा उपास प्राप्त था पहले है ना अनुपात यद्यपि यदि अत्यंत अनुपाच्य निर्गुण ब्रह्म अनुपात जिस उपास में ब्रह्मत्व का निषेध करने से ये ज्ञापन हुआ निर्गुण ब्रह्म को उपास उपास्य कौन है तो प्रश्न था तब तस्वीर ब्रह्मण अरे वही ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म ही उपास्य हो जाता है कैसे हो जाता है हटे सगुण वही निर्गुण ब्रह्म सगुण वाला होकर के उपासना करके मिल जाता है कैसा अधिदेव मध्यात्म से उपासना दंडादव्य क्योंकि इसलिए अध्यात्म और अधिदेव दोनों प्रकार के उपासना विधान करना चाहिए इतम अर्थ होगा इतम अर्थ होगा इस प्रयोजन के लिए त्याग देना कहीं नहीं विवेक तो कुछ अनिदम परवणम इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया था ना मूल में क्योंकि उपास करने की ही ऐसा उपासना करना चाहिए यही यहाँ पर कठोर अंत ब्रह्म की करो लिंगात चौथा वाक्य है ब्रह्म यदि परोलिंगा ब्रह्म यदि परोलिंगा नहीं अन्यत्र पराज ईश्वरा नित्य सर्वज्ञात परिभूय अग्नि तृणम वजरी तुम सामर्थ्य मत ये जो है अन्यत्र ईश्वर ईश्वरात अन्यत्र उस परम परमात्मा से शुद्ध ब्रह्म से अलग कोई दूसरा जो नित्य सर्वज्ञ है उससे भिन्न वो व्यक्ति अग्नि आदि अग्नि अग्नियादियों को दबोच करके ऋण गोचरी कर तुम सामर्थ्य नहीं होती पर ईश्वर सर्वज्ञ है दूसरा किसी व्यक्ति के अंदर अग्नियादियों को दबा करके तुम को भी वज्र के समान कर देने का सामर्थ्य नहीं हो सकता तम न शिशागत ब्रह्म ब्रह्म परा यहाँ ब्रह्म हदे दिग्गे ये जो ब्रह्म शब्द आया है ये साक्षात निर्गुण निराकार शुद्ध ब्रह्म को कथन किया गया है जैसे ज्ञापन हुआ लिंगा लिंग मतलब क्या है अरे दम शिशागदम लिंगा ब्रह्म शब्द वाच्य ईश्वर अवश्य है इधर ब्रह्म शब्द निर्गुण निराकार को ही लेना उचित नहीं होता है इसे जो भ्रम से हुआ चीज है ना ईश्वरी ईश्वरी सर्वज्ञ होता है ब्रह्म न सर्वज्ञ ना अल्प न सर्वशक्तिमान है न अल्पशक्तिमान है इसलिए यहाँ पर लगता शरीर में कैसा तो है कि ब्रह्म सबसे शुद्ध ब्रह्म ही गगन के अगर प्रकरण भी चला आ रहा है वो धारा भी बढ़ रही है तो इसलिए पर रहा मैंने ये अग्नियादि रूप जीव के पीछा हो जो कौन है वो ईश्वर हाँ। अन्यथा अग्निष्ठम अन्यथा यदि ऐसा ईश्वर न होता वो ईश्वर नहीं होता कोई छोटा मोटा भूत प्रेत वृक्ष वगैरह होता साधारण तो अग्नि ही तृणम दग्धम नोत्सवते कि नहीं वायुर्वा न आत्म सके नहीं ये कभी नहीं हो सकता है कि अग्नि ने जो है ना तृण को जो है जला नहीं सका वायु जो है तो तृण को पकड़ नहीं सका सामर्थ्य नहीं हो सका ऐसा तो कभी नहीं ईश्वर इच्छा तृणों के वज्र भवते तो ईश्वर इच्छा से तृण भी वज्र हो गया ऐसा कथन करने में युक्ति बनती है युक्ति समझ में आता है और आदमी ने जो है घास को जो है वज्र बना दिया और अग्नि से जला नहीं पाया ऐसे कहेंगे तो कौन मानेगा तो नहीं इसलिए कहीं उत्पन्न हो सकता है सारी कहानी जब यह ब्रह्म भगवत ईश्वर मान लिया जाए जगदान्य जो प्रवृत्त है अगला वाक्य ईश्वर भी है क्या कोई ईश्वर है हाँ, ऐसे हो तो जाएगा ईश्वर है सिद्धे है ईश्वर की सिद्धि होती है कैसे जगत हो नियत प्रवृत्ते है जगत के अंदर सब काम नियमित से उल्टा पुलटा कर सकता है तो इसलिए वही कर सकता है जो इसको नियमित रूप से चला रहा है वही तो नियम भंग करेगा सबसे पहले कानून को भंग कौन करता है जो कानून बनाता है वही उसको भंग करता है तो कई दूसरे की हिम्मत होता है हिम्मत होता है इससे कहते हैं तत्सिद्धि जगत तो नियत प्रवृत्त स्वदेश वाले प्रसिद्ध भी नित्य सर्विज्ञान ईश्वरे सर्वात्म सर्वशक्त सिद्धे पे शास्त्रा कहते हैं कि देखो श्रुति स्मृति और प्रस्तुति इन तीनों के आधार पर नित्य सर्वज्ञ ईश्वर हो सर्वात्मी सर्वशक्त तारस ईश्वर के विषय में इन प्रमाणों के द्वारा नित्य सर्व विज्ञान ईश्वर सर्वात्मी सर्वशक्ति जो आत्मा है वो सर्वशक्तिमान है वो नित्य सर्व विज्ञान वाला है वो ऐसा ईश्वर की स्थिति सिद्धि में शुद्ध से प्रसिद्धियों के द्वारा ही युद्ध वस्तु शुरू तो हो ही गया ईश्वर को सिद्ध है ही प्रयोजन साक्षार्थम स्थिति के तो अर्थ का निश्चय करने के लिए जो है यहाँ कहतन के लिए साक्षार्थ साक्षात्कार क्या है ईश्वर का निश्चय करने के लिए ही नियमाय सामान्य निर्दिष्ट अनुमानम शाखानुग्रह रूपम सूत्र उचित कार्य देखो शास्त्रार्थ से ईश्वर से निश्चयाय नियमाय निश्चय में नियमन करने के लिए अयमेव शास्त्र इस तरह से निश्चय करने के लिए मैंने ईश्वर सिद्धि ही इस शास्त्र का वास्तविक प्रयोजन है ऐसा मैं दृष्टि की गंगा सामान्य दृष्ट अनुमान दृष्टान सामर्थ्य में कैवल्य परिहारेरा उभय विशिष्टतया दृष्ट सामर्थ्य दृष्टम यदि अमय अमय अनव्यतिरिक अनुमान को सामने मान कर दी कैवल्य का परिहार के द्वारा उभय विषय पुस्तकों कथन किया जा रहा है यहाँ पर इंद्रिय वो जो अग्नियारी के हैं विशिष्ट बना और यह गया था वो भी विशिष्ट था फिर तो उसने बना दिया कुछ तो घास को वजन बना दिया बनाने की क्षमता कितनी है विशिष्ट भी नहीं है तो दोनों विशिष्ट बदलता हुआ यहाँ स्थान विचार का को किया है यह इसका तो प्रयोजन नहीं तत्वेश्वर से मूल विनाश तत्वेश्वर से सद्भाव से सिद्धि तो उस ईश्वर की सद्भाव की सिद्धि किस किस प्रकार से हो सकता है तब देखो ये निगम जगत इस बात से घर सिद्धि तथा जवाब दिया जगत हो नियत प्रवृत्ति जगत नाम जगत कैसा है जगत देव बंदर वृक्ष वृक्ष पुत्र विशाद लक्षण जीव वीर पृथ्वी आदि चंद्र ग्रह नक्षत्र विचित्रम तीनों जब प्राण भोग योग्य स्थान साधन संबंधी तदअ्यंत कुशल शिल्पी भी दुर्निर्माणम देश का निमित्तानुरूप नील प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम एक भोत्री कर्म विभाग प्रयत्न पूर्वकम भविष्य अर्हति पूर्वा यह जो जगत है वो ऐसी हो सकती है बिना ईश्वर का यह जगत हो नहीं सकती वह यह जो जगत ऐसा है जगत पर बता दिया देवता इसमें बंदर है यक्ष है रक्ष है पितर है पिछाच है आदि चौड़ा चला लाभ ये नहीं है तो अंतरिक्ष लोग है आकाश है पृथ्वी है आदित्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आराम से विचित्र मंडल मंडल यही प्राणी बहुत ही योग स्थान का और साधनों से संबंधी है ये विविध प्रकार के प्राणियों के योग का योग्य जो स्थान है वो भी है यहाँ और उनको बहुत की योग्य साधन अथवा जिंदगी हुई जगत पर अत्यंत कुशल शिव भी रहती दुर्मे ऐसा वह जगत जगह वर्णन दिया ऐसा ही भी जगत है अत्यंत कुशल शिल्पियों को लगा दो इस जगत के निर्माण नहीं कर सकते ही कुशल कलाकार क्यों हो वह इस जगत का निर्माण नहीं कर है अत्यंत कुशल मैंने वह जगत अत्यंत कुशल सिद्धि की गुरु निर्माण और देश काल निमित्त रूप निर्भवती निवृत्ति क्रम देश काल और निमित्त केंद्र नियत प्रवृत्ति और नियत निवृत्ति है तेरा क्रम वाला यह जगत कैसे चल रहा है उस प्रकार का क्रम कभी आपको जो है ऐसे महीने जून महीने में ठंडी नहीं है दिसंबर के निकलोगे तो टाइम ही रहेगा दिसंबर के अंदर ग्रीष्म ऋतु बन जाए और वो शरद ऋतु हेमंत ऋतु शिश ऋतु बन जाए ऐसा कभी उल्टा पुलटा नियंत्र से प्रयोग है ऋतु नियंत्र से बढ़ोतरी हो जाती हर चीज बिल्कुल नियत रूप से चल रहा है इसलिए जो ज्योतिष गर्भ गलत कर दिया है कि इनमें उसकी गति है इतना समय भी जब माई होगा इतने समय भी जो मछली होता है इतने जो मन होता है इतने सब चीज इसी प्रकार में होता है सारी व्यवस्थित एकदम निश्चित गति हर वस्तु को इसी तरह गति तो देश काल नित्य के अनुरूप नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम वाला इस जगत को एक भोग कर विभाग यज्ञ इस जगत का उसके कर्मों के विभाग पे जाने वाला भी चाहिए तभी तो आपको वही फल देगा आपकी कर्मानुभव तो आपको फल देने के लिए इसमें जाने वाला चाहिए ना जैसे कहीं कंप्यूटर लगा है कहीं अधिकारियों को खड़ा कर दिया है तो क्या करते आपकी हाजिरी लेता ये अनुकाल आदमी इतना बजे आया इतना बजे यहाँ से नौकरी गया हाजिरी रहने वाला ना हो पता क्या चले आप कितने दिन ड्यूटी की है कितने दिन नहीं की है अभी तंगा कर भी दिया जाए कितना लिया कोई कर होगा पिछले आप कितना छुट्टी मारे हैं कितना जो है सहमत छुट्टी है असहमत छुट्टियां हैं तो समझना पड़ेगा उसको जानने वाला कोई वो कर्म करने वाले से नहीं होगा कर्म करता जो कर्म का चयन के फल भोगता है उससे भिन्न कर्मों को जानने वाले फल प्रयाता भिन्न नहीं होना चाहिए इसके बिना प्राण व्यवस्था हो नहीं देता कर्म इसे कहते हैं भोग के कर्म के विभागों को जानने वाले का प्रयत्न पूर्वक ही यह सृष्टि कर रही है तो कार्य प्रति यह उत्तर साई होता हुआ चतुर्थ लक्षण वाला होने से सूर्य देव बेटा है सूर्य होते ही है सूर्य दर्शन वाला विचित्र का संबंध है कर्म ज्ञान की अवधि के बिना हो रही रहेगा तो इसीलिए जो उसको मानना पड़ेगा व्याप्त आसाद हृदयन आसनादि वज्य विपक्ष है यह अनुमान ये समुष्ट अनुमान वह जो ईश्वर है ईश्वर हो सकता है क्यों ये जगत कैसा है सार सत्र पूर्वकम भविष्य जगत प्रयत्न पूर्वकम इस प्रकार प्रक्रम जल विशाल निरोधन विशेष विषय में खाली तो होगा प्रयत्नवान पुरुष जगत आकार श्री यथा गृह प्रासाद रथ शयन आसन आदि यम तन्नयम यथा आत्मा जो कार्य होता है तो उक्त देश काला निवृत्त नियत निवृत्त प्रवृत्ति वाला कर्म वाला नहीं होता वहां किसी प्रयत्न की तरह बनाए वस्तु नहीं होता जैसे नहीं तो कर्म के तो कर्म को व्यवस्था देगा कर्म जो है खुद ही व्यवस्था देता है दोनों बन रहे हैं समर्थ है कोई ईश्वर मानने की जरूरत नहीं है इसलिए मीमांस ऐश्वर्य पांच मान भगवान और कोई मूर्ति है विग्रह है और हाथ में एक शंको एक में गदा एक में चक्रो एक में कमल ये सब पकड़ा हुआ मुकुटधारी कुंडलधारी अमलधारी ऐसा कोई नहीं और ईश्वरी जो आप चाहो उसके भजन पूजन करोगे वो आपको दे देगा तो क्या देगा हमारे कर्म में जो तो मृत्यु देगा वो लोगों तो क्या देगा जो मृत्यु देने बन नहीं तो ऐसा में सब झूठी करता है और अरे प्रसन्न वो प्रसन्न हो जाए अरे हो गया प्रसन्न होएगा हम नहीं कर्म करें तो प्रसन्न क्या नहीं होता हम करें तो प्रसन्न है परंतु हमारे कर्म से लग रहा है ना प्रसन्न है कुछ प्रसन्न होने वाला अलग नहीं होता अंत में कहा गया फलदात फल प्रदाता कोई जरूरत है नीम होता है क्लर्क होता है वैसे तो ईश्वर को हम मुनि नहीं मानते तो हमको फल देने वाला वो है हमारे हिसाब किताब से हमने क्या कर मुझे क्या नहीं किया और उचित समय में हमको जो है हमको फल दिए जाए ऐसे मेरे फंक्शन है नहीं तो पंचकम विग्रह ये विग्रह पांच चीजों को मीमांसा लोग नहीं मानते और इसलिए कहते कर्म ही हमको देने वाला है और ये सारा विचित्र जगत जो वर्णन किया संपूर्ण जगत का कारण कर्म ही है ईश्वर को मानने के जगत कर्म स्वतंत्र सीमित हाँ। गया ज्ञान कारक सूत्र ने बहुत आगे सुधरवा भारत सदी चलता था तो जो हेतु था तो हेतु ही सूत्र जो अनुमान में जो हेतु है वही सूत्र और ये भी बात हुआ कर्म एवं चेत न परतंत्र से निमित्त मात्रता कर्म एवं चेत पूर्व पक्षी व्याख्या करेंगे पहले कर्मण एवं पूर्व पक्षी कर्म से ही सारी व्यवस्था हो जाएगी जगत की उत्पत्ति जगत का वैचित्रता फलदात फल भेद सारे तो कर्म किसी व्यवस्था हो सकता है किसी के घर से पहले रमन करते रात गया कर्म की जगन कर्म क्या करेगा बेटा जड़ है होगा तो भर देगी शुरू यही से करते रहो वर्ष शब्द उपदेश खंडन कर देंगे कर्म शब्दाओं का खंडन जीवन आगे बढ़ नहीं सकता शुरू वहां तो इसलिए कहते हैं कि भाई पहले विचार आ रहा है यदि हम उपभोग वैचित्र प्राणी नाम तो सारण देश देशकाल निष्ठान रूप निमित्त प्रवृत्ति निवृत्ति क्रमांच नित्य सब पक्षी निर्माण जो कहता है वह यह जो जगत है वह यदि यदिदम भोग वैचित्र वो जो भोग वैचित्र प्राणियों का तब वैचित्र और प्राणियों की जो साधन विचित्रता भी है देश काल निमित्तानुरूप देश काल और निमित्त अनुरूप जो नियत प्रवृत्ति निवृत्ति क्रम आपने बताया ये सारी चीजें जो है ना किसी थर्ड पर्सन के द्वारा नित्य सर्वज्ञ करता के द्वारा हुआ है ऐसा हम नहीं मानते नित्य सर्वज्ञ हम ईश्वर के द्वारा करते सारी चीजें हैं वही व्यवस्थापक है वही इसको बनाता है हम गौर कर दूसरे गौर जीवन गौर का गौर का मतलब क्या है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर धन जनरेटर उसने सृष्टि किया तो वही ऑपरेटर है वही इसको संचालन कर रहा है अवान अवांता वही डिस्ट्रॉय वही डिस्ट्रॉय इसलिए इसका नाम चोर गौर हो गया तो वो जो है मानने कोई जरूरत नहीं है यहाँ जीव गौर जो कर्म है कोई अलग कोई चेतन वस्तु नहीं दूसरे बात उसमें जीरो डाल दो तो क्या हो जाता है गौर वो डाल दो गुड हो जाता है दूसरे के लिए गॉड इज गुड भगवान अच्छा ही होता है अरे भगवान होता ही नहीं तो अच्छा क्या होता ही नहीं हो तो भगवान नाम के चीज है ही नहीं कर्म जारी अवस्था होती है नज निर्मितम तद अनिच्छया आत्मसमेतम तत्म करो तो कर्म किन्नरी कर्मण तस्य अचिंत्य प्रभाव प्रभावता तो कौन किया है सारे जगत को जो कर्म नहीं किया है कर्म नहीं है वो ऐसे तस्वीर अचिंतित प्रभाव क्योंकि ये जो कर्म है ना उसका प्रभाव का चिंतन कोई कह रहे नहीं कहीं नहीं कुछ स्वयं भगवान ही करे गान हो कर्मणों गाना अरे कर्म का गति ग्रहण है ग्रहण है मैं कोई तो समझी अत्यंत रहस्य क्यों कहा ज्ञापन में कि कर्म ही जगत का सृष्टा है कर्म ही जगत का नियमता है कर्म ही जगत का विनाशक है कर्म ही प्राणियों के भोग का वैचित्रता और साधन के वैचित्र कारण है कर्म ही जगत में होता और देश का निमित्त अनुरूप पद प्रवृत्त निमित्त का नियत क्रम का निश्चय भी कर्म ही सर्वेश फल हेतु सभी के द्वारा यही है अरे तेरा कर्म इसे तेरे भुगतना पड़ता कौन दुनिया में नहीं कहता इस बात सारी दुनिया जानती है भी अभी तो किसी बड़ी मेरे विद्वान के पास चले जाओ कोई नहीं करेगा अपने कर्म का तथा तो के जो ब्रह्म ज्ञानी आचार्य पर नाम मानते उसे मुझे कहते अरे प्रारंभ में सही चल रहा अरे प्रारंभ कर्म का तो फल ऐसे अनुदान की होगा कि जानते उसका भी कर्म का खुद ही कहना चाहिए इसे भी तो देखेगा तो क्या है मोक्ष क्यों नहीं हो मर क्यों नहीं आई तुम तो क्या हो गया अज्ञान नष्ट हो गया अज्ञान नष्ट हो गया तो शरीर भी खत्म हो गया तो अज्ञान का नहीं होता नहीं होता क्यों फिर क्या होता कर्म को भी चली रहा है वो कर्म भी सब चला रहा कर्म ने बनाया कर्म चला रहा है कर्म को नष्ट हो जाएगा इसीलिए सर्वैश्च फल है तो अभिगमान सभी के द्वारा कर्म को ही फल का साधन फल का साधन है ऐसे भी माना गया है सभी ना फल है तो है किम ईश्वराधि कल्पना जब कर्म को ही फल का साधन करके जब स्वीकार करके उसके अस्तित्व में ईश्वर अधिक कल्पना करने से क्या लाभ होगा तो नित्य ईश्वर से नित्य स्वरूप शक्ति फल तीसरे कोई नित्य ईश्वर को नित्य सर्व की शक्ति की जो है फल साधन फल प्रदाय करते ना फल निमित्त फल करते ना स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है ये दीक्षे कर्म नहीं है दीक्षे जवाब आज्ञा दिया था सिद्धांति ने परतंत्र से निमित्त मात्र जो ईश्वर कर्म का परतंत्र लग रहा है लगता है कि ईश्वर हमारे कर्मों के अधीन होकर ये जो परतंत्रता आप ईश्वर के अंदर जो देख रहे हैं और वास्तव में परतंत्र नहीं है उसके लिए प्रवृत्ति के निमित्त परतंत्र से निमित्त इसलिए कर्म एवं भोग कर्मण एवं उपभोग देता कारण ही बहुत ही वैचित्रता आदि की उपपत्ति होता है यह बात हम मानते हैं कर्म अपने मर्जी से थोड़े विचित्रता को पैदा कर देगा कर्तरी का अधीन होकर कर्म स्वतंत्र वस्तु नहीं और कर्म में कर्तृत्व नहीं कर्म जल इसलिए कर्म स्वयं भी नहीं सकता इतने होते हैं कब तो तुम साथ कर्म तो पक्षी करेगा महाराज स्थिति मत प्रयत्न निर्वृत्तम ही कर्म तो प्रयत्न प्रमाद प्रतम सब फलम जनिष्यति नहीं अन्य आत्म प्रयोग देखो प्रयत्न निवृत्तम चैतन्य वाला पुरुष के विनिमय हुआ जो प्रयत्न है उसकी ओरा सिद्ध कर्म है वह कर्म तब प्रयत्न मार उस प्रयत्न के उपरम होते ही तो कर्म भी उपराम को प्रयत्न देना आपने कर्म किया और आप उपराम को कहा कर्म भी उपराम को आपके अंदर हुआ जो प्रयत्न के उपराम से ही कर्म का भी उपराम हो गया है अब वो कर्म से प्राण जो कर गया है तो फल कैसे मिलेगा इसलिए कहता है उपरतम सब उपरत होता हुआ भी देशांतरे कालांतरेवा नियत निमित्त विशेषापेक्षम कर्त फलम गणिशति नियत निमित्त विशेष की अपेक्षा करता हुआ कर्म जो ना कर्ता को फल उत्पन्न करने करेंगे न युक्तम अन्य अनापेक्ष अन्य आत्मन आत्मा से छोड़ आत्मा को छोड़कर अन्य की अपेक्षा के बिना सीधे पवित्रत्व मानना संभव नहीं है कर्तव्य फलकार प्रवक्ता क्योंकि कर्ता ही फलकाल में ही प्रयोजक मैं की चेता उसी को पूर्व पक्ष पर हो गया और तो उस पूर्व पक्ष को अभिनय करके दिखा मया निर्वर्तित कर्ता क्या बोल रहा है कर्म को कहता है हे धर्म मेरे द्वारा तुमको मैंने बनाया है मना तुम मरणा निवर्तितवसी अतः काम प्रयोक्ष फलाय जन्म नहीं अब तुम कर्म को प्रेरणा दे रहा हूँ हे धर्म दो मेरे को फल दो नहीं तुमको तो प्रेरणा दे रहा हूँ और यदात्मा रूपम बलम भी जो मेरे कर्मानुरूप मेरा फल है वही तुम मैं से दोगे इसलिए जो कर्म का करता है वही वो कर्म का प्रयोजित भी है स्वयं रूप फल प्राप्त करने पूर्व पक्ष कहने का तात्पर्य तभी ईश्वर की कोई जरूरत नहीं है आप जो है ठीक है कर्म जड़ कहा से दे देगा पहले तो उसके अन्य व्यवस्था दे दिया है जिस कर्ता ने कर्म को किया है वही कर्ता अपने कर्मों को फल देने के लिए प्रेरणा देता है इसमें दोष दिया भी ऐसा ही है हम क्यों अपने कर्मों को दुख देने के लिए प्रेरणा देते हैं ये कर्ता ही प्रेरणा देने के समर्थ है इतनी जगह ऐसे प्रेरणा कोई तो चाहता भी हूँ घर में यदि आप अपने कर्मों को फल लेने के लिए प्रेरणा देने का सामर्थ्य आपके अंदर होता तो आप क्या करते सब पाप कर्मों को कहते पाप कर्म तुम लोग चुपचाप बैठो बोलोगे नहीं तुम लोग फल नहीं दोगे और कहते हे पुण्यकर्म तुम लोग मेरे को सदा मौज देते रहो रहो कविता ही प्रेरणा देने लगे कर्म को ऐसे तो करता ना वो क्यों ऐसे कह रहा है अरे पाप कर तुम लोग मेरे दुख दो तो ऐसा कोई कहेगा तो चाहेंगे अपने आप में दुख लेना इसे कर्ता को कर्म का प्रेरक मानना बिल्कुल उचित नहीं है देश का निमित्त विशेष अनभिज्ञता कह दिया कि देश काल और निमित्त इन विशेषों का ज्ञात ही नहीं करता किस देश में किस काल में किस निमित्त में लेकर मुझे कौन से कर्म के फल का उपभोग करना चाहिए कुछ मुझे पता ही नहीं है इन्हें पता ही होता आदमी में यहाँ से जाते जाते आप झुकाव होगा कि बुखार होगा मालूम है क्या तो प्रेरणा हो रहा है अरे ये बुखार क्यों भी कर्म मेरे को बुखार ले आओ मैं यहाँ से जब पहुंचूंगा कुटिया में तब तक तुम हाजिर रहना वहाँ और मेरे को बुखार देना ऐसे कोई कर्म को प्रेरणा देगा क्या कोई नहीं देगा तुम जानते हो कि देश का निमित्त हमको कौन सी फल को भोग करना है इसे कर्ता और प्रेरक नहीं सकता यही ही करता है देश विशेष अभिज्ञा सन स्वातंत्र कम निंजा जैसे मान भी लो कर्ता देश विशेष आदि अभिज्ञ है ज्ञाता है देश को जानता है काल को जानता है को जानता है और अपने कर्म को प्रेरित करने में स्वतंत्र भी है स्वातंत्र करो अनिष्ट फल से अप्रवृत्ता तो अनिष्ट फलों का प्रयोग नहीं होना चाहिए और दुख का प्रयोजित नहीं बनना चाहिए ये जैसे आप स्वतंत्र होते हैं आपके सामने बहुत सारा भोजन पानी आ गया इसे से क्या खाना क्या नहीं खाना आपकी मर्जी होती है ये तो नहीं क्या मुझे वो चीज खाएंगे जिससे आपकी मृत्यु होगा खा भी कोई का आचार है हाई ब्लड प्रेशर वाला आदमी है और मिर्ची का आचार खा रहा है खाए हो कोई और तो जान दे और बड़े मर जाओ बढ़िया रसगुल्ला रखा है जान दे खाऊंगा तो दर्द निकल जाए यहाँ तो पहले तो गिनार कर ले चलो गोली खा लेगा सब कुछ कर रहा है अपने अनिष्ट का आह्वान क्यों नहीं कर रहा ये देश का निमित्त का अधिक है वो और कर्म को फल प्रदान करने की प्रेरणा देने स्वतंत्र भी है भविष्य फलदायक कर्म को क्यों प्रेरणा देता कभी नहीं लेना सुन स्वतंत्र है तो क्यों करेगा ऐसे गलत काम भी को तो प्रेरणा देगा लेकिन दुख भी हम कर रहे हैं अनिष्ट फल वो हम कर रहे हैं इसका जब हमने ही अपने कर्म को प्रवृत्ति कलंक प्रवृत्त नहीं किया इसमें क्या न जने निमित्तम का अनिश्चया आत्मसमेतन क्षण विरोध कलंक इसके अंदर कहता है उससे एक और बात है कि बिना निमित्त कर्ता की इच्छा के बिना जीवात्मा के साथ समवाय समय से रहने वाला कर्म स्वामी चंद्र की बात इनकार को प्राप्त नहीं हो सकता ये बिना नहीं इसे निमित्त का निर्निमित आत्मने कर्म अनिच्छया बिना इच्छा का आत्मसमेतम तत्कर्म आत्मा में समय समझ रहने वाला वो जो कर्मी वो अपने आप फल करने लग जाएगा जिसे चमड़ा हवा में पड़ा है बाहर पड़ा हुआ है हवा पाने से अपने आप विकास विकार करते रहता है ठीक है अपने विकार को प्राप्त हो जाता है चमड़ा सूर्योदय कोई और उस प्रकार से क्या कर्म स्वतंत्र रूपेण बिना किसी निमित्त का ही विकार को प्राप्त करेंगे क्या एक चमड़ादि निमित्त की अपेक्षा करता है विकार का नहीं करता और ये तो कर्म इसलिए कहते हैं अनिच्छया आत्मसवेतम तत्कर्म निर्निमित्तम सन न विकरो यथा कर्म के समान है नच स्वीकरवती कर्म पर कर्म नच विकरवती स्वरूप सिद्धांत एक साथ है उसका कहना है कि अनिच्छा पूर्वक भी आत्म समय समझने कर्म प्रवृत्त हो जाएगा प्रतिष्ठान भी रहता है ये हो नहीं सकता बिना किसी निमित्त का और बिना इच्छा का अपने आप समय समय से रहने वाला जो कर्म है उस जीवात्मा को फल देने लग जाए कई प्रवृत्त हो जाए ऐसा तो कभी हो नहीं सकता है जैसा की दृष्टान में और प्रभावित होता है इसी प्रकार से कर्म बिना निमित्त का विकार को प्राप्त नहीं सकता बिना इच्छा का विकार को प्राप्त नहीं सकता इच्छा और निमित्त स्वभाव को लेकर के ही प्रवृत्ति है इच्छा हुई परमात्मा ने और परमात्मा ने जीवों के कर्म निमित्त बना लिया तब जाकर सृष्टि उत्पन्न होता है इसलिए उस इच्छा को करने वाला और निमित्त को जानने वाला कोई तीसरा इसकी जरूरत है उसके अलावा की जरूरत और वह तीसरा ही ईश्वर न आत्मकृतम अकर्तृतम एकदम अहिष्कांत मंदिर आकृष्ट भवती प्रधान कर्म समय कर्म हम ईश्वर मानते थोड़ा कर्म नहीं दे रहा है लेकिन हमें यहाँ प्रकृति दे देती है कहता है अकर्तृ संवेदन अकत्र समेत उसी समय संबंध रहने वाला जो कर्म है प्रधान कर्तृ समेत का कर्म आगे मिले ना प्रधान में और प्रधान भी कर्ता में समय समर्थन कर्म जो है अयस्कांत मणि आकृष्ट होगी अयस्कांत मणि के